नमस्कार मित्रों ये वीडियो है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ड्राफ्ट यानी देश में यदि कोई भी परिवर्तन चाहिए तो जो ड्राफ्ट लिखा जाता है कानून का उसका क्या महत्व है इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ड्राफ्ट उसके ऊपर ये आ, कुछ 20-25 मिनट का वीडियो है लॉ ड्राफ्ट यानी क्या कि एक करोड़ सरकारी अफसर है पूरे देश में स्टेट गवर्नमेंट पंचायत और केंद्र सरकार सब मिला के एक करोड़ का देश है 700 जिले हैं 5000 6000 जितनी तहसीलें हैं 2 लाख ग्राम पंचायतें हैं और इतने सारे डिपार्टमेंट हैं पुलिस सेना रेलवे पोस्ट कुछ केंद्र सरकार के अंडर ही कुछ 80 से 100 जितने डिपार्टमेंट है राज्य सरकारों के अंदर चालीस जितने डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट के अंदर सेक्शन होते हैं और एक पचास लाख से एक करोड़ जितना स्टाफ है सारा गवर्नमेंट का तो ये जो स्टाफ है वो काम करता है रोज सुबह नौ बजे दस बजे नौकरी पे आता है शाम को पाँच बजे काम करता है तो उसे क्या करना है या क्या नहीं करना है उसे डिसीजन लेना है कि एम्प्लॉय कोई सिटीजन ने कोई एप्लीकेशन दी तो उस एप्लीकेशन को पास करना या रिजेक्ट करना उसे कुछ डिसीजन लेना है और वो डिसीशन जो मेन पॉइंट आता है कि अलग अलग अफसर डिसीशन ले रहे हैं तो एक जैसे आने चाहिए कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी एक एडमिनिस्ट्रेशन का सिद्धांत होता है कि एक ने कुछ और डिसीजन लिया हो सकता अच्छा है चलो मान लो अच्छा है दूसरे ने भी कुछ डिसीजन लिया वो भी नैतिकता के बल पे ठीक है पर दोनों के डिसीजन यदि अलग अलग है एक दूसरे को काटने वाले हैं तो देश की गति रुक जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन का काम रुक जाएगा इसलिए ये आज की बात नहीं है 5000 साल से जब भी जब से सभ्यताएं अस्तित्व में आई है तब से जो राजा या ऊपर की कमेटी होती है जो कि पूरे प्रदेश को या देश का संचालन करती है वो नीचे का अफसर किस तरह से काम करेगा क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा उसके लिए लिखित में ऑर्डर देती है चाणक्य के समय में भी उससे भी पहले चाणक्य से भी पहले भी उसे राजपत्र कहा जाता था राजपत्र या राज आज्ञा पत्र यानी कि राजा ने जो आज्ञा दी है या मंत्रियों ने जो आज्ञा दी है आपके अफसरों को क्या करना चाहता है क्या करना है तो कोई भी आप यदि सरकारी तंत्र में परिवर्तन चाहते हो तो उसे गैजेट में डलवाना पड़ेगा गैजेट यानी क्या ये गैजेट नोटिफिकेशन का एग्जाम्पल है गुजरात गवर्नमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन है गैजेट यानी कि केंद्र सरकार और हमारे यहाँ जो भी तीस राज्य सरकारें हैं वो हर हफ्ते या हर पंद्रह दिन या हर महीने में एक बार एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करती है सौ पेज का दो सौ पेज का जिसे गैजेट नोटिफिकेशन कहा जाता है यानी कि मंत्रियों द्वारा दिए गए कलेक्टर तहसीलदारों को आदेश कि कलेक्टर तुझे ये करना है तहसीलदार तुझे ये करना है या मंत्रियों के आदेश के द्वारा तैयार किए गए डिपार्टमेंट सेक्रेटरी के आदेश यानी कभी कभी मंत्री ने मंत्रियों ने कोई मोटे तौर पे कोई आदेश दिया होता है और उस आदेश के आधार पे डिपार्टमेंट सेक्रेटरी उसकी फाइनल डिटेल्स उसकी डिटेल तय करते हैं और वो डिटेल फिर कलेक्टर के पास जाते हैं यानी गैजेट में वो छपती है उसके बाद ही कलेक्टर उस पर अमल शुरू कर सकता है तो कानून के दो तीन प्रकार होते हैं और पहला एक प्रकार जो सबसे आसान मैंने बताया वो है गैजेट नोटिफिकेशन गैजेट में छपता है मुख्यमंत्री के आदेश पे कैबिनेट के आदेश पे या उसके द्वारा तैयार किए गए आदेश के ऊपर सेक्रेटरी आदेश लिखते हैं फिर लेजिस्लेशन होता है लेजिस्लेशन यानी पार्लियामेंट <coughs> या असेंबली ने जो बहुमत से कानून पास किया है आमतौर पे वो कानून भी तभी इम्प्लीमेंट शुरू होता है जब वो गैजेट में छपता है आमतौर पे हमेशा नहीं कोई भी लेजिस्लेशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन कलेक्टर या जो तहसीलदार लेवल के लोग तभी शुरू करेंगे जबकि वो गैजेट में छपेगा और कोर्ट जजमेंट भी अपने आप में कानून होता है उसका भी इम्प्लीमेंटेशन इमीजिएट होता है लेकिन आमतौर पर उसका भी इम्प्लीमेंटेशन तभी होता है जब वो गैजेट में छपता है तो ये तीन प्रकार के हैं अब हमें तो अगर सरकार में कोई सामान्य परिवर्तन भी चाहिए मान लो कि आम आदमी को 10 लीटर केरोसिन मिल रहा है और हम चाहते हैं कि 10 के बजाय 12 लीटर केरोसिन मिलना चाहिए तो चलो मान लो मंत्री ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा कि 12 लीटर केरोसिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी प्रेस में छप गया कि बारह लीटर केरोसिन लेकिन यदि गैजेट में दस लीटर लिखा है तो कलेक्टर दस लीटर ही देगा और जो कलेक्टर है वो गैजेट के ऊपर चलता है ना वो मंत्री का प्रेस स्टेटमेंट देखेगा ना वो चुनाव का मैनिफेस्टो ले सकता है उसमें 10 लीटर लिखा है यदि उसने 12 लीटर लिखा दिया तो उसकी नौकरी जा सकती है यानी गैजेट में छपने के बाद कलेक्टर तहसीलदार उस पर अमल करते हैं तो हमें यदि गवर्नमेंट में कोई भी परिवर्तन चाहिए मान लो काला धन वापस लाना है या भ्रष्टाचार बंद करना है या आ... अदालतों में केस बहुत धीमी गति से चल रहे हैं तीन करोड़ केस पेंडिंग है अदालतों की गति सुधारनी है पुलिस की एफिशिएंसी सुधारनी है हमें सरकार के अंदर कोई भी परिवर्तन चाहिए तो पहले गैजेट में हमें कुछ छपवाना पड़ेगा क्या छपवाना पड़ेगा वो फिर हमें तय करना है और फिर ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारी यानी हम आम नागरिकों की कार्यकर्ताओं की नेताओं की नहीं उनको तो पैसा बनाने के सिवा कोई इंटरेस्ट नहीं है जो मिनिस्टर है आईएएस है आईपीएस है सुप्रीम कोर्ट के जज हाईकोर्ट के जज वो तो मतलब आते हैं जो भी लाख दस लाख करोड़ इकट्ठा किया वो लेके घर गए उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गैजेट में क्या छपता है और उस पर लोगों की स्थिति सुधरेगी या बिगड़ेगी लेकिन हम कार्यकर्ता और आम आदमी यदि हम देश की परिस्थिति सुधारने चाहते हैं यदि हम सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार के अंदर भ्रष्टाचार कम करना चाहते हैं सरकार की दिशा ठीक करना चाहते हैं तो हमें तय करना पड़ेगा कि गैजेट में क्या छपवाने से सरकार की दिशा ठीक होगी सरकार की गति सुधरेगी और सरकार के अंदर रहा भ्रष्टाचार का तो गैजेट नोटिफिकेशन का जो लिखित भाग है लखान ड्राफ्ट वो इम्पोर्टेंट चीज है और वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है देखो पॉलिटिक्स में नारेबाजी का इंपॉर्टेंस जीरो है आप यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहोगे तो मैं कहूंगा कि चलो एक बार नारा बोलना चाहिए वंदे मान कि जिससे साबित हो गया कि तुम सूडो सेक्युलर नहीं हो भारत माता भी चाहिए एक बार बोलना चाहिए पांच बार बोलना चाहिए ताकि साबित हो गया कि तुम सूडो सेक्युलर आदमी हो पर पचास बार बोलने का कोई अर्थ नहीं है दिन में एक बार बोला दिन में दो बार बोला पांच बार बोला बहुत है अब पचास बार बोलना सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है वेस्ट ऑफ एनर्जी है उससे जो इम्पोर्टेंट काम है लौट आउट उस पर आप कम समय दे पाओगे भाई आपके दिन में तो 24 घंटे ही है ना आप कितने भी बड़े आ, आप आ, कितने भी बड़े आदमी हो या कोई छोटे आदमी हो आपके दिन में तो साढ़े चौबीस घंटे पच्चीस घंटे नहीं होने वाले दिन में तो चौबीस घंटे ही रहेंगे इसी तरह से कार्यकर्ता जो है उसके भी दिन में चौबीस घंटे हैं और कितने साल वो देश के लिए दे पाएगा भाई आज वो हो सकता है कि देश के लिए चार महीना दे सके साल का छह महीने दे सके लेकिन एक पॉइंट के बाद उसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने पड़ेंगे फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने के बाद कॉलेज जाएगा वहाँ एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे एग्जाम आएंगे फिर शादी के लिए सोचना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा पैसा बचाना पड़ेगा नौकरी ढूंढनी पड़ेगी नौकरी के एक बार नौकरी लग जाए तो वहाँ तो नौ घंटे दस घंटे काम करना पड़ता है क्योंकि उस काम से तुम सीखते हो ऐसा नहीं कि एक्सप्लेटेशन हो रहा है तुम यदि बारह घंटे काम करोगे तो तुम जितना ज्यादा काम करोगे जॉब पे उतनी तुम्हारी कैरियर अच्छी बनेगी तो एक आदमी आमतौर पे आमतौर पे देश के लिए एक दो साल दे सकता है तीन साल दे सकता है चार साल दे सकता है वो पूरी जिंदगी इसी तरह से नहीं घूम सकता फिर शादी हो जाएगी फिर बच्चे होंगे तो बच्चों को टाइम देना पड़ेगा मेडिकल इमरजेंसी आती है आज आपकी उम्र मान लो पच्चीस साल है तो आपके माता पिता की उम्र शायद पचास साठ साल के आसपास होगी तो मेडिकल इमरजेंसी कम है दस साल के बाद उनकी उम्र जब सत्तर अस्सी साल की हो जाएगी तो मेडिकल इमरजेंसी आएगी आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा उसमें खर्चा भी होगा खर्चा होगा तो आपके आय के और स्रोत ढूंढने पड़ेंगे आपको बिजनेस में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा तो ये मान के मत चलो कि आप पूरी जिंदगी हर कि तीन महीने साल के तीन महीने छह महीने देश को दे पाओगे ये मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकल नहीं है एक आम कार्यकर्ता मैं कहूँगा अपनी जिंदगी के यदि दो साल या चौबीस महीने महीने के तो मैं तो दिन और कभी कभी घंटे की बात करता हूँ कि हफ्ते में यदि चार घंटे दे सकते हो दिन में हफ्ते में आठ घंटे दिन के नहीं हफ्ते में आठ घंटे दे सकते हो तो बहुत बड़ी बात है तो एक एक मिनट का सदुपयोग करना वो जरूरी चीज है तो आप यदि दो घंटे नारेबाजी करोगे तो कानून पढ़ने का टाइम कब मिलेगा कानून समझने का टाइम कब मिलेगा कि कानूनों से क्या परिवर्तन आ सकता है सरकार में देश में वो समझने का टाइम कब मिलेगा इसलिए नारेबाजी utter complete waste of time है इसी तरह से रैलियां निकालना वो भी एक पॉइंट के बाद वेस्ट ऑफ टाइम में एक रैली निकाली दो रैली निकाली हर साल आप रैली निकालोगे तो लोग आ नहीं पाएंगे लोग साल में आपकी एक रैली में आ सकते हैं दो साल में एक रैली में आ गए साल में एक रैली में आ गए अब हर महीने आप रैली निकालोगे तो एक पॉइंट के बाद लोगों की संख्या आने वालों की संख्या कम होती जाएगी और रैली में आया तुमने उनको बारह पंद्रह घंटे थका दिया आठ घंटे रैली में बिताए एक उससे एक दिन पहले प्रिपरेशन में गया उससे एक दिन के बाद वो रेस्ट लेने लेंगे तो जिंदगी के तीन दिन टाइम पास हो गया इसी तरह की टाइम पास एक्टिविटी है चरखा घुमाना वो मोहन भाई ने शुरू किया था ताकि अंग्रेजों की सल्तनत तो बराबर कायम रहे देश में किस तरह से युवाओं का टाइम पास करा दिया जाए कि युवाओं जो युवा देश के लिए मरना चाहते थे अंग्रेजों को मारना चाहते थे यदि उनके हाथ में भगत सिंह या महात्मा सुभाष चंद्र बोस या महात्मा भगत सिंह के विचार या महात्मा सचिंद्रनाथ सान्याल इनके विचार आ गए होते तो उन्होंने अमल शुरू किया होता तो बड़े संख्याओं में अंग्रेजों का कत्लेआम हो जाता और उस समय देश में सिर्फ अस्सी हजार अंग्रेज थे इसलिए मोहन भाई ने देखा कि भाई किस तरह से इनका टाइम पास करा दिया जाए ताकि अंग्रेजों की सल्तनत चालू रहे इसलिए दुरात्मा गांधी ने उनको चक्के घुमाने के का लाइन पे लगा दिया तो ये चरखा घुमाना वेस्ट ऑफ टाइम है और इसी तरह से एक पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा शिविरों में जाना जहाँ पे एक ही बात रिपीट होती है आज के जमाने में इसका महत्व कम है है साल में एक आध बार जाना चाहिए ताकि बहुत सारे लोगों से मिल सको वहाँ पे प्रत्यक्ष विचार विमर्श हो जाए बातचीत हो जाए पर अब ये जो टाइम है जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इतना सस्ता है एक वीडियो बना के आप हजार दो हजार कार्यकर्ताओं को भेज दो वो सारे वीडियो देख लें दो घंटे तीन घंटे दस घंटे की वीडियो देख लें वीडियो देखने के बाद वो आपस में डिस्कस कर ले एक बार और उसके बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो जिसमें 20-20 कार्यकर्ता फेस टू फेस आ जाते हैं कोई दिल्ली में बैठा है कोई बॉम्बे में बैठा है कोई अहमदाबाद में बैठा है और वो आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर लेते हैं तो इस तरह से विचारों का प्र, प्र, प्रचार ज्यादा गति से होगा और इसमें टाइम और पैसा कितना बच गया आने जाने का आपका बारह पंद्रह घंटा बच गया मान लो मैं अहमदाबाद में शिविर रखता हूँ दिल्ली से कोई आएगा तो आने में अठारह घंटा जाने में अठारह घंटा बीच में थोड़ा बहुत और टाइम वेस्ट होगा तो 36 घंटे तो यही वेस्ट हो गए उसके 36, 40, अड़तालीस घंटे तो ये कार्यकर्ताओं को थकाने के इससे कार्यकर्ता थक जाते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पे उनका ध्यान नहीं जाता अब लॉ ड्राफ्ट के मैं दोबारा बात करूंगा कि कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य बनता है कि वो लॉ ड्राफ्ट पढ़ने में अपना टाइम दे यदि आप कहोगे कि नहीं हमें कानून का ड्राफ्ट नहीं बनाना हमें कानून का ड्राफ्ट सोचना भी नहीं है कि गैजेट में क्या छपना चाहिए हम तो बस एक अच्छे आदमी को भारत का प्रधानमंत्री बना देंगे एक अच्छे आदमी को हम भारत का मुख्यमंत्री बना देंगे सौ दो सौ पाँच सौ अच्छे आदमियों को हम M P M L A बना देंगे वो लोग अच्छे ड्राफ्ट लिखेंगे हमें नहीं देखना कि अच्छे ड्राफ्ट क्या होने चाहिए और क्या नहीं तो ऐसा नहीं होता क्योंकि जिस आदमी जिस सौ दो सौ आदमी को एम बनाओगे एम बनने के बाद उनकी नीयत बदल जाएगी ये ये स्वाभाविक नियम है आप मान के चलो कि हम 500 आदमियों को एमपी बनाएंगे और वो 500 के 500 एमपी बनने के बाद भी ईमानदार रहेंगे उन पर कोई दबाव नहीं डालेंगे तो भी वो देश के लिए अच्छे कानून बनाएंगे वो एमएनसी को निकालेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है कार्यकर्ताओं कार्यकर्ता जब उन पर दबाव डालेंगे और बराबर दबाव डालेंगे तो ही वो एक दो कानून पास कराए पाएंगे और एक दो कानून के बाद तो उनका दबाव भी काम करना बंद हो जाएगा मैं उसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको कि जयप्रकाश नारायण ने राइट टू रिकॉल के मुद्दे का बहुत प्रचार किया था वो नंबर वन मुद्दा था 1975 सॉरी 1977 के इलेक्शन में नंबर वन मुद्दा उस समय राइट टू रिकॉल के कानून का था लोगों ने जयप्रकाश नारायण को 360 370 एमपी दे दिए वो सब जयप्रकाश नारायण के नाम पे इलेक्ट हुए थे बाकी जो एमपी खड़े हुए थे लोग उनको ज्यादा जानते भी नहीं थे और जो लोग चुन के आए ये शरद यादव लालू यादव रामविलास पासवान मुलायम यादव ये सब जयप्रकाश नारायण के टाइम पे चुन के आए थे एम बने थे वो ने चुनाव जीतने के दूसरे दिन ही राइट टू रिकॉल का विरोध करना शुरू कर दिया साफ साफ सुब्रमण्यम स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी भी राइट टू रिकॉल के समर्थक थे 1977 में जो जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया उसमें लिखा था ये कि राइट टू रिकॉल हम कानून लाएंगे और आज सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि ऐसा कोई प्रॉमिस ही हमने नहीं दिया था रिटर्न में ये 77 का मैनिफेस्टो बोलता है कि ये राइट टू रिकॉल में उन्होंने प्रॉमिस दिया था और वो आज कहते हैं कि नहीं ये जयप्रकाश नारायण का प्राइवेट एजेंडा था पार्टी ने इसको कभी समर्थन नहीं किया हाँ। और पार्टी हमेशा राइट टू रिकॉल के विरोधी रही थी अब तो इस तरह से आप भी जो 200-400 एमपी चुनके भेजोगे उनमें से 70, 80, 90 परसेंट दो चार दिन में भ्रष्ट हो जाएंगे और वो कोई अच्छा कानून पास नहीं करेंगे इसलिए कौन से कानून ड्राफ्ट में आने चाहिए उसका कंस्ट्रक्ट आपके माइंड में कॉमा फुल स्टॉप और उसके साथ क्लियर होना चाहिए आपको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये ड्राफ्ट गैजेट में छपने लायक है इस ड्राफ्ट के छपने में देश का कोई नुकसान नहीं होगा ड्राफ्ट के छपने से देश का ये ये फायदा होगा और ऐसा नहीं है कि एक ड्राफ्ट से सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे एक जैस तरह की एक दवाई होती है वो सिर्फ एक रोग को ठीक करती है आपको दो चार रोग एक साथ हो गए हैं मलेरिया हुआ है टाइफॉइड हुआ है तो एक दवाई होगी जो सिर्फ टाइफॉइड कम करेगी दूसरी दवाई होगी जो कि सिर्फ मलेरिया कम करेगी फिर इस तरह से कहना भी ठीक नहीं है कि ये दवाई तो सिर्फ मलेरिया कम करेगी टाइफॉइड का क्या कॉलेरा का क्या ऐसा नहीं है हर एक दवाई है वो एक रोग को थोड़ा कम करती है हो सकता है हंड्रेड परसेंट कम ना करे टेन परसेंट कम करे ट्वेंटी परसेंट कम करे और ये सारे अलग अलग ड्राफ्ट है वो मिलके देश की परिस्थिति को इतना सुधार सकते हैं कि जो देश कि आज आज भारत की जो स्थिति है वो हो सकता है दस पंद्रह साल में अमेरिका से भी अच्छी हो जाए तो ये मैंने आपको बताया कि ड्राफ्ट का इंपॉर्टेंस कि कार्यकर्ताओं को क्लियर होना चाहिए कि वो जिस नेता या जिस संगठन के लिए काम कर रहा है वो क्या ड्राफ्ट गैजेट में छपवाना चाहते हैं और वो ड्राफ्ट की लाइन उसे पढ़नी चाहिए और फिर कन्विंस होना चाहिए अब ड्राफ्ट के बारे में दूसरे लोगों का रवैया क्या है तो हमारे बंधारण की जब रचना हो रही थी तब बाबा अम्बेडकर ने एक बात रखी थी कि हमें ड्राफ्ट जितनी हो सके उतनी सरल भाषा में रखना चाहिए ताकि देश का आम आदमी उसमें पढ़ सके जबकि उस समय जो चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद और दुरात्मा जवाहरलाल गांधी जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि नहीं ड्राफ्ट इतनी मुश्किल अंग्रेजी में लिखो कि आम आदमी समझ दो क्या उसे पढ़ भी ना सके इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी सेक्शन ले लो कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था 147 छह बार पढ़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें क्या लिखा है और ऐसा नहीं है कि वो इश्यू कॉम्प्लिकेटेड है इश्यू सिंपल था जानबूझ के इतने कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी के जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लिए गए इतने कॉम्प्लिकेटेड शब्द लिए गए इतने कॉम्प्लिकेटेड वाक्य रचना सेंटेंस राइटिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि एक ट्वेल्थ पास किया मैं तो बीटेक करने के बाद एमएस किया है और इतने सारे डॉक्यूमेंट लिख चुका हूँ सॉफ्टवेयर के और मुझे वो एक आधा पेज का आधे से एक चौथाई पेज का सेक्शन आर्टिकल 147 पढ़ने में मुझे छह बार मुझे पढ़ना पड़ा तो वो जो आदमी जान इसी तरह से लोकपाल का कानून है आप लोकपाल का जो 40 पेज का कानून है जन लोकपाल का वो 40 पेज का कानून पढ़ लेना और आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इतने सरल शब्दों में लिखा है कि कोई भी टेंथ ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम का लड़का पढ़ लेगा और उसका हिंदी अनुवाद आप दोगे तो हिंदी मीडियम वाला भी पढ़ लेगा कानून में भाषा का ज्ञान जरा भी जरूरी नहीं है जो कानून अंग्रेजी में लिखा है उसी कानून को आप हिंदी या गुजराती में लिख दे तो जिसको आदमी को अंग्रेजी का एबीसीडी नहीं आता और जो हिंदी आती है वो समझ लेगा कानून के लिए कोई ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए तो वो 40 पेज का जन लोकपाल कानून इतने कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी में लिखा है कि आप एक बार मैं आपसे कहूंगा कि आप पढ़ने की कोशिश कीजिए आप जैसे आप में से अधिकतर लोगों ने इंग्लिश में काफी लोगों ने आप में से काफी लोगों ने अंग्रेजी में मीडियम में पढ़े होंगे आप ग्रेजुएट होंगे आप ये 40 पेज में से 8 पेज भी नहीं समझ पाओगे जानबूझ के इतनी कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी में लिखा था कि आम तो उसको समझ भी नहीं सके तो यहाँ से आपको आपके नेताओं का मूल्यांकन शुरू करना है कि पहले वो ड्राफ्ट दे रहे हैं या कह रहे हैं कि ड्राफ्ट हम अगले जन्म में देंगे या ड्राफ्ट इलेक्शन जीतने के बाद देंगे तो 90 परसेंट नेता क्या कहेंगे कि अभी ड्राफ्ट की बात मत करो ड्राफ्ट से क्या फर्क पड़ता है कौन ड्राफ्ट पढ़ता है भाई कौन ड्राफ्ट पढ़ता है क्या मुझे पढ़ना है और ड्राफ्ट पढ़े या ना पढ़े आपके पास ड्राफ्ट है वो इंपॉर्टेंट चीज है कोई डॉक्टर कहे कि भाई दवाई का नाम जान के क्या करोगे अरे भाई मुझे मैं दवाई का जान नाम कुछ नहीं करूंगा मेरे लिए तो ये आपने एक दवाई का नाम लिखा है दूसरी मुझे कोई तो सीधा फार्मासिस्ट के पास सवाल यह है कि आपको दवाई का नाम पता है पेशेंट को दवाई का नाम पता हो या पेशेंट को पता ना हो कि दवाई में क्या है या क्या नहीं वो इम्पोर्टेंट चीज नहीं इम्पोर्टेंट चीज है कि भाई डॉक्टर को पता है कि दवाई के अंदर क्या है और कौन से रोग के लिए कौन सी दवाई काम करेगी तो यदि आपके संगठन का नेता यदि ड्राफ्ट देने से विरोध कर रहा है या कहता है कि इलेक्शन जीतने के बाद में ड्राफ्ट दूंगा तो कॉन्फिडेंशियल रखने की क्या जरूरत है भाई आप इलेक्शन जीतने के बाद ड्राफ्ट ये कानून पास कराना चाहते हो ड्राफ्ट अभी पब्लिक के सामने रख दो और मान लो पास हो जाता है तो अच्छी बात है क्रेडिट कांग्रेस को मिल गई या बीजेपी को मिल गया किसी को मिल गई उससे क्या फर्क पड़ता है आज यदि कोई ड्राफ्ट रख देते हैं और आज कांग्रेस उसको पास कर देती है और कांग्रेस को क्रेडिट मिले कम से कम देश का तो दो साल पहले भला होना शुरू हो जाएगा यदि हम कहें कि नहीं दो तक इंतजार करो दो तक कोई ड्राफ्ट की बात नहीं करेगा 2014 में हम एक से अच्छे ड्राफ्ट ले आएंगे अभी आपको कोई नहीं बताएंगे भाई अभी आप बताओ ना हो सकता है आज पास हो जाए आज पास हो जाए तो देश का भला हो 2012 से ही देश का भला होना शुरू हो जाएगा तो ये मंशा ठीक नहीं है यदि वो नेता ड्राफ्ट अवॉइड कर रहे हैं तो जैसे आप ये सुब्रमण्यम स्वामी है वो एक भी चीज का ड्राफ्ट नहीं दे रहे वो तो एमपी रह चुके हैं दस का तो काफी कार्यकर्ताओं ने पूछा कि बांग्लादेशी देश में घुस रहे हैं बांग्लादेशियों को घुसते हुए रोकने का आप कोई कानून सुझाव कर सकते हो तो फिर उसके कानून वानून की बात मत करो कोई कानून की जरूरत नहीं है वो ड्राफ्ट में बाद में दूंगा मुझे पहले पीएम बना दो या सीएमबीए का डायरेक्टर बना दो इसी तरह से अन्ना के ग्रुप के बारे में मैं एक पॉइंट पॉजिटिव कहूंगा कि उन्होंने लोकपाल का ड्राफ्ट दिया जन लोकपाल का ड्राफ्ट दिया लेकिन बाकी जितनी भी डींगे हाँक रहे हैं कि हम राइट टू रिकॉल लाएंगे वो बात गए अप्रैल आठ अप्रैल मुझे तारीख भी याद है 8 अप्रैल 2011 को सुबह उन्होंने बोला था कि वो राइट टू रिकॉल के लिए काम करेंगे उस बात को एक साल से कुछ दिन हो गए एक साल और एक हफ्ता हो गया आज तक उन्होंने राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट नहीं दिया वो कार्यकर्ताओं को गोल गोल घुमा दें कि ड्राफ्ट की कोई जरूरत नहीं है पहले राइट टू रिकॉल की आम सहमति बनानी ये आम सहमति क्या बनानी नाइन्टी परसेंट लोग तो पहले से तैयार है राइट टू रिकॉल के लिए तो एक यदि तुम्हारा नेता ड्राफ्ट नहीं दे रहा तो तुम्हारा नेता गलत आदमी है दूसरा वो ड्राफ्ट सरल अंग्रेजी में दे रहा है या जानबूझ के मुश्किल अंग्रेजी में दे रहा है आप जनलोकपाल का ड्राफ्ट पढ़ के तय करो कि ये ड्राफ्ट सरल अंग्रेजी में या मुश्किल अंग्रेजी में और ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H T M Rahul Mehta dot com slash three zero one dot H T M इसमें ड्राफ्ट सेक्शन थ्री और बहुत सारे ड्राफ्ट दिए हैं कानून के आप ड्राफ्ट एक बार पढ़ो ये एक स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक में जो अंग्रेजी होती है उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं एक भी ड्राफ्ट सारे ड्राफ्ट ए स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स जितना कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कहीं कहीं गिनती आ जाती है कि भाई आंकड़े आ जाते हैं गिनती आ जाती है तो ए स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स से कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर इसमें अंग्रेजी का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो कि टेंथ क्लास का लड़का ना जानता हो एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो कि टेंथ क्लास का लड़का समझ ना सके यानी मैंने अंग्रेजी सरल अंग्रेजी में लिखा और उसका हिंदी अनुवाद भी किया और हिंदी अनुवाद भी आप को अनपढ़ आदमी के सामने पढ़ते सुनाओगे तो वो समझ जाएगा कि इसमें क्या लिखा है यानी ड्राफ्ट सरल भाषा में लिखे हैं और इसका जितनी हो सके उतनी स्थानीय भाषाओं में अनुवाद दिया है जन लोकपाल का मई 2011 तक हिंदी अनुवाद नहीं दिया गया गुजराती में तो आज भी नहीं है मैंने जिस दिन यह किताब अंग्रेजी में खत्म की उसके दूसरे ही दिन मेरे कार्यकर्ताओं ने इसका हिंदी अनुवाद शुरू किया आज सारे ड्राफ्ट का हिंदी अनुवाद है हमारे पास और गुजराती अनुवाद भी अधिकतर ड्राफ्ट का मैंने लिखा है और मैंने वेबसाइट पे भी रखा है 301.g.pdf में गुजराती अनुवाद और ये गुजराती अनुवाद की कॉपी है सारे पेज में ट्रांसलेट नहीं कर पाया इसमें कुछ 400 पेज है मैंने 100 पेज का ट्रांसलेशन यहाँ पे किया तो ये देखिए कि आपके नेता सरल भाषा में ड्राफ्ट दे रहा है और आपके नेता आपको क्या ड्राफ्ट आम आदमी को या दूसरे कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं या मार्गदर्शन दे रहे हैं या आपके नेता बोलते हैं कि ड्राफ्ट को फाड़ के फेंक दो सिर्फ नारेबाजी करो सिर्फ रिसीव मेंबर बनाओ या सिर्फ ये डोनेशन इकट्ठा करो और इसमें सारे में टाइम पास कर दो तो मैं समराइज करूंगा कि कार्यकर्ताओं के कानून के ड्राफ्ट क्या होने चाहिए इस पर फोकस करना चाहिए कि कौन से ड्राफ्ट से भ्रष्टाचार कम होगा मैंने प्रस्तावित किए राइट टू रिकॉल के ड्राफ्ट जूरी सिस्टम के ड्राफ्ट टैक्स व्यवस्था सुधारने के लिए क्या ड्राफ्ट होने चाहिए तो जितना हो सके उतना जल्दी कार्यकर्ताओं को तो ये सारे कानूनों के ड्राफ्ट पढ़ना शुरू करना चाहिए धन्यवाद